जमात का मतलब क्या है और गैर मुकदगी का मतलब क्या है और गैर मुकलदीन के दलाए क्या हैं उनके जवाब क्या हैं यहाँ तक बात आती है और जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि मसला नहायत नाजुक है करने से इससे करना एहतियात के खिलाफ इतनी बात अब आगे हम जरा मसला पढ़ा रहे हैं के अहले सुन्नत व जमात के दलाई में हम उन दलाई को जिक्र करने से पहले पहले एक बात और ध्यान कर देना चाहते हैं जैसा मैंने कि अकायद के बाद में ईमान मजलूम है तस्वीर मजलूम है ईमानी ईमान आना और खास तौर पर अल्लाह की बात के बारे में और उसकी करने से मना किया अकायद के सिलसिले में खैरुल में और बस एक वाकया से था का मतलब हजरत उमर के पास के जमाने में वो एक वाकया और एक मालिक के जमाने का ये दो वाकया खैरुल में के को तो पैदा हुए और का मसला मतलब भी सहाबा के जमाने में था अब्दुल्ला के जमाने ये मसला छिड़ा था दूसरा का एक शख्स आकर के शरीर की रिवायतों में से मुकदमे फिर खैरुल के बाद वो स्वच्छता के ऊपर जाहिर नहीं हुए तब तक हमारे के सिलसिले में इजमाल और साक्षी दोनों लेकिन मोतला के आने के बाद मुतला खास तौर से जाहिर हुए थे हल्के कुरान के तो हल्के कुरान के मसले को लेकर जब वो अल्लाह जिंदा हुए तो उन्होंने हमारे के बाद में खास तौर पर तवज्जो देना शुरू और वो अहादीस खबरें भारतीय संगीत की थी उसने किसी तरह का वो या किसी तरह की अखली एतबार से लाभ निकाल करके तब्दील करना शुरू कर दिया तो वो फारसी और ईमान अकायद के सिलसिले में अखलाक से चला आ रहा था वो गंगा के पैदा होने की वजह से उसमें कुछ तरफ तो बात मोतला के ज़माने तक इमाम मालिक ही की चली आ रही क्या माना और मानूम कैसे इमाम बस यही बात चली आ रही थी मोतला के दूर लेकिन मोतला का जब दूर हो गया तो उन्होंने मुसलमानों के दरमियान ये शुभा पैदा करना शुरू कर दिया जब अल्लाह ताला के लिए कहा जा रहा है अश्व है अल्लाह ताला के लिए कहा जा रहा है कि उसके लिए वजह है यद है पाप है कदम है तो कैसा ये शुभा पैदा किया सबसे पहले इन मोतजा इसका मतलब क्या तो जो हजार आए रही तो और आशिक की रही थे वो तो हकीकत से वाकिफ थे कि अल्लाह ताला जिसम और जिसमानियात से और लिहाजा इसकी कोई हिस्सा हम अपने जहन में नहीं कर सकते ये समझ करके खामोश रहे लेकिन जो अवाम का तबका उनको ज्यादा गुमराह करने की शक्ल पैदा होगी इन बहुत अल्लाह की तरफ तो उसी जमाने में अशारी क्या शेख अबू यासर अशरी शेख अबू मंसूर माँ पैदा हुए इन दोनों हजरात का मुकाबला था उन्हीं मोतजला मोतजला जो अवामनाज से बुराई फैला रहे थे तो इसका मतलब क्या वज का मतलब जज का मतलब इस्तेमाल का मतलब क्या तो उन्होंने इसका मतलब बयान किया ऐसा जो तमाम नसूल के मुताबिक हो के खिलाफ हो अल्लाह ताला जिसमें से भी बड़ी हो मकान से भी बड़ी हो गृह से भी बड़ी हो और उस नस का करीब माना माना बयान किया ये उसूली बात मुझे जरूरी थी क्या उसूली बात कि किसी ऐसा माना बयान किया जाए कि किसी नस से टकराव भी ना हो और अल्लाह तबारा के लिए मकान होना भी लाजिम ना आए अल्लाह का जबान में होना भी लाजिम ना आए अल्लाह ताला का किसी गैस में मालूम होना लाजिम ना आए इन उसूल को सामने रख करके हर ऐसे मुतशाबे का जिसका माना मालूम और कहते हुए आ रहे थे कहते मजूम उसका मफहूम इंसान के जहन के करीब करीब हो करके ध्यान दिला इसलिए आप पढ़ते होंगे कि यद का मफहूम बयान क्या कुदरत वज कह करके अल्लाह की जात बुरा के लिए आमतौर पर झूठ बोल करके दात कुल पूरा कर लेते हैं अल्लाह की दात रात कैसी मगे शायर अल्लाह की कुदरत याद रहा हाथ बोल करके पूरा ले लिया गया ये नस के खिलाफ भी नहीं है अल्लाह तला का कदम है आदि से निकल निकलता माने लोगों को इस सवा अर्श है इसका माने किया पहले समझ रहे थे कि जो भी माना मखलूक है अल्लाह तला को तो मालूम हमको मुकदम किया गया है कि जो नस ने कहा गया उसको मालूम मालूम कैफियत मजबूत लेकिन कैफियत मजबूत जब आवामनाथ को कहा गया तो आवामनाथ समझने के लिए तैयार मतलब क्या है तो हमको समझना जैसे अभी बार बार हो रहा है कि भाई जल्दी का क्या मतलब बार बार हो रहा है कि इस्तेमाल को क्या मतलब हर जगह मौजूद है तो क्या मतलब तो जब मोतला की तरफ से ये इतना पैदा किया गया तो उन्होंने बताया कि यह खसूसी तालुक इस पीला बलवा उसको कंट्रोलिंग में सवाल किया जा रहा है कंट्रोल करना पर ये माना नहीं है इसके कंट्रोल करना अगर ले लिया जाए माना तो किसी नस के भी खिलाफ नहीं है अल्लाह के लिए जिसम और जिसमानियात का मानना भी जरूरी नहीं है अल्लाह के लिए आज का मकान होना भी लाजम नहीं आता तो ये माने बयान किया जरूरतन और लोगों को जाना सही माना और तकलीफ पर कायम रखने के लिए ये असल माना नहीं है बल्कि हम नहीं कहते हैं कि असल माना पूरा बल्कि हम असल माना नहीं बोलते कि ये जात के माना है इस सेवा के माना असल हम हल्का और कंट्रोल के नहीं लेते सेवा के तो वही माना है जो अल्लाह के यहाँ है मगर ये माने क्यों ये के आवाम तरह तरह के क्या नाम है शुभात से मुबतला हूँ अल्लाह के लिए पूरी जिसम को मानने का हमारा ना हो जाए अल्लाह तला के लिए जैस मानना ना लाजमा है अल्लाह तला के लिए कोई मकान ना लागू कर गैर मोहम्मद क्या कर रहे हैं इसके बाद है की कैफियत को समझ में नहीं आ रही है तो ये समझ रहे हैं कि गोया जैसे हम बैठते हैं किसी जगह पर अल्लाह बैठा हुआ है क्यों वो नहीं वो कहते हैं कि अल्लाह जब ऐसा है तो ऐसा हो तो ये माना अशारी हजरात ने या माशूरी हजरात ने जो प्रयास किया है जरूरतन इख्तियार मैंने बयान किया इख्तियार की हालत वो तो हम तो वही जवाब देंगे इस्तेवाब आना मालूम कहती तो आप मजबूर बदतमान वालों अनाफिजा ये है इख्तियार वाला जवाब मजबूरी वाला जवाब है कि इसका ये माना है इसका ये माना है इसका यहाँ जो इख्तलाफ बयान किया जाता है कि ये लोग इस लिबास से मुराद देते हैं गलबा इस लिबास से मुराद देते हैं कंट्रोलिंग और हाँ, हम इस लिबास से मुराद देते हैं अल्लाह का आज पर होना ये बिलीव कर रहे हैं गलत हम यहाँ पर जो वजू किया है बाद के हराबला ने और आज कल के गैर मुबल हम इसके पास नहीं लेकिन बदलाव ने जो कुछ कहा है बिल्लो अनिति को क्या असलाम ने कहा है असलाम का वही मुझे शर्मा के साथ चली जा रही है स्वाद इनके मुताबिक बिलक और कैफियत मजबूर मानव का मालूम वो उन्हें शर्मा के पास मौलाना भी नकल करती है इमाम मालिक अब्दाला भी नकल करते हैं और इमाम सहाबी रहमत का यही बात कही जा रही थी और हमारे दर से जगाती है सहावी अखीर सहाबी भी पढ़ाई जाती है उसमें अखलाक के कसरत ही को व्याप्त करते हैं और अकायद के अंदर दूसरी किताब हमारे दर्ज निजामी पढ़ाई जाती है शराह अकायद तो शराह अकायद ये है तफरदारी और इसका जो वजन है अकायद नसबिया इमाम हसफी की है इमाम नकवी ये है मातुरीदी और सत्ता रानी है अशरी तो गोया हम अशरी को भी मानते हैं मातुरीदी को भी मानते हैं अजवाब को भी मानते हैं हालात अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल हालात में हम अजवाब की बात करें और अगर नाजुक बात आ गई अवामुलनाज को सही क्या नाम है सहन पर रखना है सही अकीदे पर हमको बरकरार रखने की जरूरत पेश आती है तो कभी हम अशरी के हैं कभी हम मान लेकिन ये देते हैं जरूरत हमको तो यही कहा जा रहा है कि ये है मातुरीदी ये है अशरी ये गलत इंतजाम हमारे अगर ये बात सही होती तो हमारी अपने जगामी में कभी भी अपनी तावी नहीं पड़ी इसलिए कि अपनी तो कर्जमान है अखराब क्या पाए तो अखराब क्या पाए की तर्जमान है यहाँ ही बल्कि हमारी जो कुल मदारी है वहाँ भी ये किताबें दाखिल है लेकिन सारी भी पढ़ाई जा रही है और शराब भी पढ़ाई जा रही है और उनसे मुनाफ जितने मदारिस हैं वो उन सारे मदारिस में ये दोनों किताबें दाखिल जाती हैं तो के नौ मदद ये है कि सवाल हर्ष हो या जितने भी मोहम्मद के मुताबिक आयात हों सबके अंदर यही है कि नॉर्मल हालत है तो हर बात के मतलब जी को इख्तियार किया जाए एक वही है आदत वही है कसरत और अगर नॉर्मल आदत नहीं है अवामुलनास ये बिगड़ने का अंदेशा है किसी न किसी कैफियत के मानने और उसके मफहूम के दर पे है तो फिर अगर काम हमारा चल रहा है मशरी से मशरी से काम चलाना मशरी से काम नहीं चलता है माफी से काम चलाना माफी से काम चलाना ये है दर है मजबूती की बात शायद बात आ होगी वाजह अल्फाज से अगर कुछ वहाँ संबंधी बात मुकम्मल रह गई हो तो आप अल्फाज मजीद पूछ सकते हैं आप बता सकते हैं गुमानी करना चाहें गुमानी देना चाहें जिसने बहमिया के इतफा करे कोई ये वाकयात पड़ गए तो इन लोगों से क्या मांग रहे हो कि बहमिया के इन वाकयात को पढ़ कर अगर इतबा कर ले इसको दलील बना कर तो इन लोगों से क्या मामला होगा उसमें तो क्या है कि इनमें सहमिया के मौसम और एहतियात करने की दो सूरत हो एक तो ये एक बड़े आदमी गुजरे हैं मुहफिक गुजरे हैं सही गुजरे हैं उन्होंने एक बात कही हमको उनकी बात दिल से लगी और सही नीयत के साथ हमने उसकी सेवा की अल्लाह ताला इसके ऊपर हमारी गलत नहीं बनी लेकिन हम वादे हो जाने के बावजूद और दीन में इख्तलाफ और इंतजार पैदा करने की खातिर जैसा कि अभी सवाल आया तो अल्लाह ताला कहते हैं हर जगह मौजूद हो गंदी जगह पे भी अल्लाह ताला मौजूद है अगर इस तरह के इंतजारी कैसे पैदा फैलाना उनके जहन में है और किस नियत से उनकी इतवा करना चाह रहा हूँ ऐसे शख्स की जैसे मुशायात सहाबा के बारे में आता कि जिसने हजरत आदि की इतवा की या हजरत अमीर मुआविया की इतवा की लेकिन ये उनकी सही थी ये दोनों की दोनों राष्ट्र अल्लाह के यहाँ फाजिल कबूल है जन्नत के मुसलमान लेकिन दोनों में से किसी की इतवा की ये भी अल्लाह की बात है चाहे हजरत अभी की इतवा की हो चाहे हजरत अमीर मुआविया की इतवा की हो दोनों के दोनों व्यस्त में आएंगे अल्लाह तला नियत की बुनियाद पर हम कह रहे हैं क्या नीयत होगी तो क्या है रासायनिक तो मौजूद है जब दलायल काम में आने के बाद भी उसके चला आप जो दलायल पेश किए ऐसा इस्तेमाल ऐसा पहले आज पूरे खिलाफ दलायल जो काम में आ गया तब भी इससे बात करें तब तो भी एक बात और बोलना चाह रहे हैं आपकी पास का लगी असल में क्या है इस मसले को अगर आप समझना हम चाहें तो जरा एक दूसरे वस्तु को पहले समझें जैसे हमारे अलिमा के दरमियान इख्तलाफ है इतिहास मसाजी इमाम शाफी रसूल के मानने वाले हैं एक है इमाम को हनीफा मानने वाले दोनों बहनें हर एक के पास के पास भी कराए हैं के पास कराए ये कहते हैं कि हमारी तमीज राजे है उनकी ये कहते हैं कि हमारी तमीज राजे है उनकी और दोनों अपने अपने अकीदे की बुनियाद पर नेक नियति के साथ अमल कर रहे हैं दोनों उपाधियाँ मानी थी दोनों में से किसी की गलत नहीं ऐसे ही एक इब्न तैमिया का मतलब है एक जमहूर उम्र का मतलब है दोनों को ये समझ करके कि हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है ये कह रहे हैं हमको ये बात समझ में आ रही है इनकी बात राजे है इनकी बात मजबूत इन्होंने इस पर अमल कर दिया इसलिए ये कहा कि नहीं हमारे सामने यही है राजे ये है मजबूत और इसके ऊपर उसने अमल कर लिया ये भी अल्लाह क्या मालूम है इसकी भी कोई गलत नहीं लेकिन उसमें इतना और इंतजार पैदा करने की और उसकी दावत को तस्वीर करना शुरू किया जहाँ से रास्ता हल होगा कब होगा जैसे जैसे भी अपने मतलब पर अमल करता है कि तो उसको इजाजत नहीं है कि इसको दावत का मौजूद बनाए छात्र ही अपने मतलब पर अमल करे लेकिन उसको दावत का मौजूद बना करके लोगों में लोगों में इंतजार पैदा करने की कोशिश करे कि जाए ऐसे ही जब भूत का जो मौका है अगर कोई खुशी को हम समझ लिया तो वहाँ समझ करके अपने तौर पर आवाज करे लेकिन इसको दावत का मूल्य ऐसे ही इब्ने सैनिया के मतलब को अगर किसी ने सही समझ करके उसको अपना लिया अपना लिया भी हद तक लेकिन उसको दावत का मूल बना जैसे आज तक दावत का मूल बना हुआ है इमाम खुद का मसला इसको बना दिया यह ये दुरुस्त नहीं जाएगी बातें हुई बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनमें सहनिया है पर अमल करते हुए शिद्दत से जमे हुए जाहिर नसूस के खिलाफ नहीं बनते ताबीलात जो मुबसरीन ने की है उन पर रद्द करना उनका उनके पेश नजर और रद्द करने में वो इतना आगे बढ़े कि मुतशाद आयात वगैरह में भी दखल दे दिया उन्होंने शिद्दत यहां पर उनकी आती उनका कहना था कि रसूस को अपने कार्य पर मामूल करो और असल में अगर आप इस मौजूद पे जरा तो आप मुताला करना चाहें मैं एक किताब का और हवाला देता हूँ एक किताब अगर ये हमारे आगे के सबसे में मशहूर नहीं है लेकिन बहरहाल मुफीद देखना चाहिए जहाँ से भी सही बात मिल जाए टकरा मिल जाए अल्लामा शिफली के मुताबिक हमारे वर्मा ने बहुत कुछ लिखा है नजरियात भी उनके हैं ऐसे कि बहुत कुछ कहा जा सकता उनके लेकिन उन्होंने किताब लिखी है अल उन्होंने एक किताब लिखी है इलमुल कलाम अच्छी किताब उसने ताबीर पर ही बहस की और ताबीर के मुताबिक जो मुख्तलिफ जमातें आज बीच में और इनमें तो गुलू हो गया उस पर ही बहस की इतने तहनिया पर बड़ा अच्छा काम किया है अबू दौरान जब ऊपर लिखा है अपने अहबाज के ऊपर लिखा है और इनके ऊपर भी लिखा है और एक और कोई बड़ी शब्द जिसके लिए तर्जमा हो चुका है उर्दू उस पर उन्होंने तामीलात की बहस की उस पर भी काफी तफसील से लिखा है और उसमें लिखा कि उस जमाने में हालात कैसे पैदा हो गए थे कि हमें पर अमल करने पर विचार किया और उसने जितना हद से आगे को बढ़े इन किताबों में उसका पसंद लिखा तो हम लोग उसका पता लगाए

विशेष है नियत है नियत जैसी होगी हम लगाएंगे अगर हम उसमें ही समझ रहा है और उसकी उसका दिल उसी को मानने के लिए तैयार है तो आता है कि शक्ति से पूछा और उस पर उसने नेक नियति के साथ अमल कर दिया अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त गलती अगर क्या है जान बुझ कर बुद्धि तो होगी लेकिन उस मुस्तफी की गलती होगी इसलिए जमहूर के खिलाफ अगर किसी के इतिहास को दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा इम्कान है गुमराही लेकिन गुमराही के इम्कान के बावजूद हम कहेंगे कि अगर नेक नियति के साथ इसके बाद क्या है तो अखबार में उसकी गलती दावत का मौजू बनाने का मतलब क्या है क्या समाजे को हस्ती बनाने की कोशिश न करे या कोई और मतलब है तो हाँ, मतलब यही है कि मन भी शाही को हल्की बनाना चाहे और शाही हल्की को शाही बनाना चाहे वो जिसको हक समझ रहा है चारों हक है उनमें से इसकी ही सेवा करना चाहे सेवा करना लेकिन हम इस चार नहीं बता रहे ये हमला करें कि हम सैर बंधन हल्कल ईमान के पाए नहीं है शवाब सैर हल्कल ईमान के कायल हैं वो गलत पर है हम हक पर है और हम ये कहते हैं फतवा दे रहे हैं कि उनकी नमाजी जायज नहीं हुई साठ साठ सत्तर साल तक नमाज पढ़ रहे थे एक नमाज हमारी नहीं हुई ये बड़ा जाति की बात है दावत का मौजूद से बना है और सारे ग्राम के दरमियान वो मुस्ताद की बताए थे उसको कभी भी उन्होंने दावत का दावत का मौजूद हमेशा कहा करता है मुस्तफ़ा का रहता है उम्मत के दरमियान कोई इखलाफी मसला नहीं है पूरी उम्मत का जिसका इस्तेमाल है उसको तो दावत का मौजू बनाया जा सकता है लेकिन शुरुआत को और बंदगी बताए को तो दावत का मौजूद बनाया हाँ तो हमारे पूरे ये जो कह रहे हैं हर जगह हलूल हलूल की तारीफ भी हम लोग वर्तमान पड़े हुए होंगे ये हलूल हार और बहलूल दोनों के दोनों चीज होता है हार भी जैसे कि रुई है रुई में अगर पानी भिगो दिया जाए तो गोया पानी हजूल कर दिया किसमें रुई में तो रुई भी जिस पानी भी जिस तो हाल और मायूल दोनों के लिए जरूरी है जिसम का होना हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम देना कि हर एक में हजूल नहीं हुआ ये तो गलत इल्ज़ाम हम तो कहते हैं अल्लाह ताला जिसम भी नहीं है और जिसम से भी पाक और मकान से भी पाक इसलिए इल्ज़ाम है अल्लाह ताला हमारी तरफ नहीं करना हाँ बिल्कुल बल्कि बात तो यह अभी तक कि अल्लाह की बात अल्लाह की जात और मखलूक दोनों है ये मसले को यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है इसके बाद उसको जाना चाहिए कि यानी हो जाए और बना करवाना यही माना है इस हालत के हाथों में वो सलामत हो जाएगा ये इनका जो है उसमें इसके बाद है ना तो अभी पढ़ा आपने इसके बाद इसके बाद का मतलब ये है कि कोई खास मकाम सूफिया का हुआ करता है उस मकाम पर जब वो पहुंच जाए तो हुआ हुआ अल्लाह अल्लाह है उत्तर किताब में कहा हुआ अल्लाह को अच्छा अच्छा तो वो क्या है कि उन्होंने एक खास मकाम सूफिया का किया है कि जब उस मकाम पर पहुंच जाए तो उसके बाद रूह के जिक्र से ही वो गोया कहना का मकाम हासिल कर ले और पूरा रूह हो पहले तो उस मकाम पर कोई पहुंचे हम उस मकाम पर पहुंचे हुए नहीं हैं इसलिए उससे नीचे की बात हम बोल रहे हैं हम जब उस मकाम पर या खुद आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे तो वही जुमला इस्तेमाल करेंगे तो उन्होंने इस्तेमाल किया उनमें क्या है बात लेकी जा रही है एक मखसूस मकान की और उसकी तस्लीम होती है एक अदना नजर वो गुफ्तु कर रहे हैं एक आला मकाम से उस मकाम पर जब आदमी पहुंच जाए तो उसकी कैफियत ये हो जाती है और हम ये समझ रहे हैं कि अरजरुल हालत के अंदर रहते हुए उस मकाम को यह है बुनियादी वसूल देखिए मतलब और वारदल वजूद के मसले को समझाने के लिए हमको अल्लाह ताला की जात को मखलूक से तश्वीर दे करके समझाना पड़ेगा और अतराफ के मुताबिक जो आया है ये कि असलम और आहवत तरीका ये है कि अल्लाह ताला के मिस्र को कि जब नदी कर दी गई है तो उसको समझाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए कैफियत को मजबूल कहना चाहिए यह है अस्थावर और असलम तरीके लेकिन वहदतुल वजूद में मुस्तकिल मसला है और वो खास तौर से अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से चला और उसको समझाने की मुजद्दिद अलैहि रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोशिश की मौलाना खादरी नवाजी ने इस मसले को तफसील के साथ और जो आपने शायद की का हवाला है उसमें थोड़ी सी लेकिन इन सारी बहसों में जाने से इंसान का जो है और हमको उलझाने के बजाय मुतसमीन के मसले को अगर सामने रखा और कैफियत के समझाने से अपने आप को अलग रखा और ये फिक्र लोगों के अंदर आम करने की कोशिश की कि अल्लाह के साथ मखलूक में से किसी के भी मुशादे हैं अल्लाह मकान का मोहताज नहीं जमान का मोहताज नहीं तो गोया के असलम अकीदा और आगत अकीदा आम करने वाले और जहां तक उसकी बात है हफाजत की बात है सूफिया अपने खास तमाम तक पहुंचने उसकी जो तशरी करते हैं उस तशरी से हम मुमकिन नहीं लेकिन वो तशरी ईमान का जुल्फी हम नहीं मानते तो एतराज करना चाहिए कि हमको ईमान उसको वैसे को ईमान का जुद नहीं मानते समझ में अगर आ रहा है मान नहीं आ रहा है हमको इतराज नहीं है आपको मानना ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं आयात मुशाफात के बारे में कि यज के माना कुदरत इस सेवा के माना गलबा ये माने इसलिए नहीं कहते हैं कि मानना समझ में आ रहा है नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है आपको इकरार नहीं है कि यही माना है इसको मानना तो नहीं मानेंगे आप दिमाग से निकल जाएंगे हम कहते हैं अगर माना वही है कि माना हमको मालूम कैसे हमको अगर इस तरह से हम अपने जहन को खाली रखें और खुशादा रखें तो इंशाला इसकी तस्वीर में नुकसान की क्या कुछ बात समझ आ रही है ना हमको क्या समझाना वो चाह रहे हैं इस सेवा वाले मसले को गैर गुरु तो की मजबूत और बोया अल्लाह ताला को किसी न किसी तरह से वो हमको कह रहे हैं कि समझाओ मखलूक से मिला दे रखें आप वर्दी के बदले में जहाँ भी जाएंगे आप हर जगह किसी न किसी मखसूस से किताब को बताना है तस्वीर देना हमको क्या कहना है कि ईमान का असर नहीं है वर्दी जो कुछ तस्वीरात लिखी है लोगों ने अगर आपके सहन में आ रहा है सहन से बालातर है समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये ईमान का दिन नहीं है इसलिए मानना चाहिए हम जो तावील का दर्जा जो इख्तियार किए हुए हैं वे पना पना तावील हम करेंगे आयत में इस पर हमको इतरार नहीं है समझ में आ रहा है पानी नहीं समझ में आ रहा है असल माना वो है असल मकनी शुरू कराइए जो अखलाफ का आज इसको मौजूद पर कोई किताब जिससे वह अलग हर्ष पर क्या हमारे दलायल और उनके दलाइल पर जो कलाम है वो कोई जगह इस पे अगर आप देखना चाहें तो बड़ी अच्छी है वो किताब का हम में होना चाहिए वो बड़ी अहम अदब किताब है ही को तो समझने के लायक दस से सफात में तो है तो अच्छा, मैंने

मौसम अच्छा ठीक है ये बात हमें मिल है कि उन्होंने चंद आयात को कह दिया मौसम इसको कह दिया इन्होंने मगर ये मौसम आप ही बोल रहे हैं उससे पहले और भी और तो मिल हैं उन हजरात ने भी उसको गौतम कहा है नहीं कहा इसी तरह से आपने इन आयात को कह दिया मगर शादी ये सिर्फ आप ही की बात है या और भी इससे पहले हजरात गुजरे हैं उन्होंने इनको कह दिया मगर शादी यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए भाई कहने की बात है तो हमारा भी मुंह है हम भी बोल सकते हैं आपका मुंह आप भी बोल सकते फैसला तो ये होना चाहिए कि मुतफी ने इन आयात के मुताबिक क्या कहा और अगर मुतमीन के कलाम को हम तलाश करेंगे तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि इश्तबाश को भी मुतशाबहत में से शुमार किया गया है यहाँ फैसला ही होना चाहिए कि ना हमारी बात ना आपकी बात मुतमीन ने क्या कहा वो कहा है उसको तो मान लिया ठीक है ये किताब मेरे सामने नहीं है इसमें नहीं पढ़ सकता पढ़ने के बाद ही कुछ पाया जाता है मैं इसको मुकम्मल नहीं कर सका और सवाल का हुआ है मैं इसको दे दिया तो हो सकता है कुछ मिले तो थोड़ा सा इसको सामने रख करके Thank you.